जॉन ब्राउन गुलामी के खिलाफ लेखन टॉम स्ट्राइस का चित्रांकन Ralph L Ramstead Hindi voice over Partho Mukherjee Hudson township Ohio 1812 12 वर्षीय जॉन ब्राउन मवेशियों को एक जंगल के रास्ते पर ले जा रहा था वो लगभग 100 मील चल चुका था मवेशी ही उसके एकमात्र संगी साथी थे जॉन मवेशियों को अपने पिता ओवन के लिए बाजार ले जा रहा था जॉन अपने पिता को खुश करने के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता था ओवन ब्राउन सख्त थे वो जॉन और अपने अन्य बेटों से अपने चमड़े के कारखाने में कड़ी मेहनत करवाते थे ओवन बाइबल के हर शब्द पर विश्वास करते थे किसी भी नियम को तोड़ने के लिए वो अपने बच्चों को सजा देते थे उन्होंने बच्चों को यह भी सिखाया कि गुलामी गलत थी संयुक्त राज्य में बहुत से लोगों के पास गुलाम थे उन गुलामों को अफ्रीका से लाया गया था गोरे लोग गुलामों को बर्तनों और मवेशियों की तरह खरीदते बेचते थे गुलामों के बच्चों को भी बेचा जा सकता था अधिकांश गुलाम दक्षिण में काम करते थे कई कच्ची झोपड़ियों में रहते थे वो किसी भी चीज के मालिक नहीं हो सकते थे दक्षिण के कानून दासों की रक्षा नहीं करते थे उनके मालिक उन्हें पीट सकते थे भगौड़े दासों को कोड़े मारे जाते थे एक बार जब जॉन अपने पिता ओवन के मवेशियों को बाजार में लाया तो उसकी एक युवा गुलाम से दोस्ती हो गई वो गुलाम लड़का फटे कपड़े पहना था वो बहुत भूखा लग रहा था जॉन ने देखा कि लड़के के मालिक ने उसे बेलचे से पीटा था जॉन उस लड़के को कभी नहीं भूला अपने पिता ओवन ब्राउन की तरह जॉन को भी गुलामी से नफरत थी जो लोग गुलामी को समाप्त करना चाहते थे उन्हें उन्मूलनवादी या एबॉलिशनिस्ट कहा जाता था वैसे बहुत से लोग गुलाम समर्थक भी थे जब जॉन बड़ा हुआ तो उसने घर छोड़ दिया उसने शादी की और अपने परिवार का पालन पोषण किया वो भी अपने पिता ओवन ब्राउन की तरह ही सख्त था जॉन के बच्चे भी अपने पिता की टैनरी में कड़ी मेहनत करते थे जॉन ने उन्हें बाइबल के अनुसार जीना और दास्ता से घृणा करना सिखाया जॉन अक्सर गुलामी के खिलाफ भी बोलते थे उनका मानना था कि भगवान चाहते थे कि दास मुक्त हो जॉन चर्चों और सभाओं में ऊंची और जोरदार आवाज में बोलते थे उनके कड़े विचारों और तेज आवाज को कई लोगों ने सुना था लेकिन जॉन का मानना था कि सिर्फ बात करना ही काफी नहीं था फिर उन्होंने गुप्त योजना बनाई वो कुछ गुलामों को बंदूकें और तलवारें भेजेंगे जॉन को उम्मीद थी कि उसके बाद गुलाम अपने मालिकों पर हमला करेंगे और फिर भाग जाएंगे जॉन उन गुलामों की एप्लाचियन पहाड़ों में छिपने में मदद करेगा कुछ कनाडा चले जाएंगे जहां पर गुलामी कानून के खिलाफ थी कुछ गुलाम पीछे रह जाएंगे और लड़ते रहेंगे वे अपने मालिकों को डराएंगे फिर मालिक अपने गुलामों को मुक्त कर देंगे इस तरह जॉन ने सोचा गुलामी समाप्त हो जाएगी जॉन ने अपनी योजना फ्रेडरिक डगलस नाम के एक व्यक्ति को बताई डगलस कभी गुलाम हुआ करते थे फिर वो गुलामी से निकलकर भाग निकले थे डगलस गुलामी के खिलाफ लिखने और बोलने के लिए प्रसिद्ध थे पर डगलस मानते थे कि गुलामी बिना लड़े समाप्त हो सकती थी लेखक और चर्च के पादरी लोगों को गुलामी की बुराइयों के बारे में बता सकते थे फिर सरकार गुलामी के खिलाफ कानून पारित कर सकती थी लेकिन जॉन को विश्वास था कि केवल शब्दों से गुलाम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे गुलामों को अपनी मुक्ति के लिए लड़ना होगा जॉन के साथ बातचीत करने के बाद डगलस उनके मत से सहमत होने लगे जैसे जैसे जॉन बड़े हुए लोगों में गुलामी को लेकर गुस्सा बढ़ता गया कई दक्षिण के लोगों का मानना था कि उन्हें अपना काम करवाने के लिए गुलामों की जरूरत थी कई उत्तर के लोग मानते थे कि गुलामी गलत थी अठारह में जॉन के पांच बेटों ने ओहायो छोड़ने का फैसला किया उन्होंने चलकर और गाड़ियों में सवारी करके 1000 मील पश्चिम में कैंजस की यात्रा की कैंजस में जमीन अच्छी थी वहां गेहूं और मक्का के ऊंचे पौधे उगते थे वहां के हरे भरे खेतों में मवेशी और भेड़ मोटे तगड़े बनते थे जल्द ही कैंजस के एक राज्य बनने की उम्मीद थी क्या वहां पर गुलामों को रखने की इजाजत होगी कैंजस के लोगों को उस निर्णय के लिए मतदान करना था पर केवल कैंजस में रहने वाले गोरे लोग ही मतदान कर सकते थे गुलामों और महिलाओं को वोट देने की इजाज़त नहीं थी उन्मूलनवादी और गुलामी समर्थक दोनों तरह के लोग कैंजस पहुंचे वहां पर गुलाम समर्थक मतदाताओं की जीत हुई उससे कैंजस उन्मूलनवादियों को बड़ा गुस्सा आया जॉन के बेटों को लगा कि कहीं दोनों पक्ष में युद्ध न छिड़ जाए उन्होंने जॉन से मदद मांगी जॉन और उसका परिवार बहुत गरीब था वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं हो पाया जॉन का मानना था कि कैंसस में युद्ध से वो गुलामों को मुक्त करवाने में मदद कर पाएगा वो जल्द ही ओहायो से बंदूकों से भरी एक वैगन के साथ रवाना हुआ कैंसस टेरिटरी 1855 में जॉन अपने पांच बेटों के साथ जाकर मिला वहां वो कई अन्य उन्मूलनवादियों से भी मिला जल्द ही जॉन उन्मूलनवादियों के नेताओं में से एक बन गया कई गुलाम समर्थक लोग भी अपने फार्म शुरू करने के लिए कैंसस आए दोनों गुट अगल बगल ही रहते थे प्रत्येक समूह गुलामी को लेकर क्रोधित था एक रात एक आदमी खबर लाया गुलाम समर्थकों ने एक उन्मूलनवादी शहर लॉरेंस पर हमला किया था शहर के मुख्य मार्ग पर आग लगी हुई थी जॉन ने वो खबर सुनी उसकी आंखों में खून उतर आया और उसकी आवाज गुस्से से तेज हो गई जॉन ने लोगों से मदद मांगी उसके साथ कौन कौन चलेगा जॉन के साथ सात लोग आए वे उस जगह के पास छिप गए जहां गुलाम समर्थक परिवार रहते थे अगली रात जॉन के समूह ने पांच गुलाम समर्थक लोगों को मार डाला जॉन ब्राउन ने कहा था कि वो गुलामी को खत्म करने के लिए कुछ भी करेगा गुलामी समाप्त करने के लिए वो लोगों को मारने को भी तैयार था उस रात के बाद उन्मूलनवादियों और गुलाम समर्थक के बीच कैंस में हफ्तों तक लड़ाई चली दोनों पक्षों के कई लोगों की मौत हुई सैकड़ों लोगों ने जॉन और उसके पुत्रों को खोजने और पकड़ने की कोशिश की जॉन को कैंस छोड़ना पड़ा लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी गुलामी ने देश को दो भागों में बांट दिया था जॉन को विश्वास था कि जल्द ही युद्ध छिड़ जाएगा जॉन अपने दोस्तों से और पैसे और बंदूकें मांगने के लिए पूर्व की ओर लौटा उसने एक नई योजना बनाई वो कुछ लोगों को वर्जीनिया के हार्पर फेरी शहर में ले जाएगा वहां पहले से ही एक बंदूकों का भंडार था जॉन और उसका समूह वो बंदूकें चुराएगा फिर जॉन के आदमी वो खबर फैलाएंगे जॉन को आशा थी कि उसके बाद गुलाम उससे मिलने के लिए भागेंगे उसे उम्मीद थी कि उन्मूलनवादी भी सहायता करने आएंगे फिर जॉन उन्हें बंदूकें देगा और उसके बाद गुलामी खत्म करने की जंग शुरू होगी जॉन को यकीन था कि उसकी योजना काम करेगी फिर से उसने फ्रेडरिक डगलस को अपनी योजना के बारे में बताया जॉन चाहता था कि डगलस भी उसकी मदद करे डगलस को वो योजना काफी बहादुरी की लगी लेकिन उन्हें यह भी लगा कि वो योजना काम नहीं करेगी उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे पर फिर भी गुलामी खत्म नहीं होगी पर जॉन डगलस से सहमत नहीं था जॉन का मानना था कि गुलामों को मुक्त करने के लिए उन्हें संघर्ष करना ही होगा उसमें शायद युद्ध भी होगा हार्पर फेरी वर्जीनिया 16 अक्टूबर अठारह रात हो गई थी जॉन और उसके 20 से अधिक लोगों का एक समूह धूल भरी सड़क पर निकल पड़ा जॉन के बेटे ऑलिवर और वॉटसन उसके साथ थे समूह ने पोटोमक नदी को पार किया फिर वो चुपचाप शहर में घुस गए जॉन के आदमियों ने कई लोगों को बंदी बनाया फिर वे उस इमारत में घुसे जहां बंदूकें रखी थी उसके बाद वे सुबह होने का इंतजार करने लगे जॉन ने अपने कुछ आदमियों को उनके साथ जुड़ने के लिए कुछ गुलामों को खोजने के लिए भेजा पर वो बात जल्द ही फैल गई नगर वासियों ने जॉन और उसके आदमियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी जॉन के लोगों ने पलटवार किया दिन रात लड़ाई चलती रही जॉन को यकीन था कि जल्द ही गुलामों की एक सेना उसका समर्थन करने आएगी लेकिन अगली सुबह सैनिक शहर में पहुंच गए सैनिकों ने जॉन ब्राउन और उसके आदमियों को पकड़ लिया सैनिकों ने सात लोगों को मार डाला जॉन के दो पुत्र और उसके आठ अन्य लोग भी मारे गए उसके केवल पांच आदमी ही भाग निकलने में सफल हुए गुलामों की कोई सेना मदद के लिए नहीं आई अधिकांश गुलाम वहां से बहुत दूर थे गुलाम जॉन की योजना के बारे में जानते ही नहीं थे हार पर फेरी योजना पूरी तरह विफल हो गई जॉन ब्राउन और उसके चार लोगों को वर्जीनिया के चार्ल्स टाउन जेल में बंद कर दिया गया जॉन पर जल्द ही मुकदमा चलाया गया दक्षिण में कई गोरे लोग गुलामों के हमले से डरते थे वे चाहते थे कि जॉन को फांसी दी जाए पूरे देश में लोगों ने जॉन के ट्रायल के बारे में पढ़ा और सुना ट्रायल को देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे जॉन जज के सामने खाट पर लेटा था उसके चेहरे पर हार पर फेरी की लड़ाई के जख्म दिखाई दे रहे थे जॉन गुस्से में बोला क्या संयुक्त राज्य में सभी को स्वतंत्र और समान नहीं होना चाहिए हाँ वो अपने आदमियों को हार्पर फेरी में लाया था उसने कानून तोड़ा था लेकिन उससे भी बड़ा एक और महत्वपूर्ण कानून था उसने कहा गुलामी बाइबल के कानून के खिलाफ थी उसने बाइबल के कानून का पालन किया था अदालत ने जल्द ही फैसला लिया जॉन ने लोगों को मार डाला था और संयुक्त राज्य सरकार के खिलाफ कार्रवाई की थी उसे अब मरना ही होगा 2 दिसंबर अठारह को जॉन को फांसी दे दी गई बाद में उसके छह आदमियों को भी फांसी पर लटका दिया गया अधिकांश गुलाम मालिक अभी भी मानते थे कि गुलामी सही थी पर ज्यादातर उत्तर के लोगों को गुलामी गलत लगती थी गुलाम काम करते थे और जानवरों की जिंदगी जीते थे उत्तर और दक्षिण के बीच का गुस्सा बढ़ता ही गया कई लोगों को लगा कि जॉन सही था शब्दों से गुलामी कभी खत्म नहीं होगी 1860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति चुने गए लिंकन उत्तर से थे वो गुलामी के खिलाफ थे अगले कुछ महीनों में दक्षिण के राज्यों ने संयुक्त राज्य छोड़ दिया उन्होंने अपना अलग देश बनाया राष्ट्रपति लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साथ रखना चाहते थे 1861 में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ वो युद्ध चार साल तक चला उसमें पांच लाख से अधिक सैनिक मारे गए और हजारों आम लोग भी मारे गए अंत में उत्तर ने युद्ध जीता दक्षिणी राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में लौट आए फिर 30 लाख से अधिक गुलामों को स्वतंत्रता मिली लेकिन जॉन ने सही बात कही थी कि गुलामी एक लंबा और भयानक युद्ध लाएगी अंत के शब्द जॉन ब्राउन ने कई कानून तोड़े उसने लोगों को मार भी डाला उसे गुलामी को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका लगा कुछ लोग उसकी बात से सहमत थे दूसरों ने उसे अपराधी करार दिया लोगों में अभी भी जॉन ब्राउन के बारे में असहमति है आप उसके बारे में क्या सोचते हैं जॉन ब्राउन को यह जानकर खुशी हुई होगी कि गृह युद्ध के साथ गुलामी भी समाप्त हो गई लेकिन गृह युद्ध के बाद भी पूर्व दासों को भूख और गरीबी का सामना करना पड़ा उनके पास जमीन नहीं थी और बहुतों को कोई काम नहीं मिला दक्षिण और उत्तर में अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ गलत व्यवहार किया गया जॉन ब्राउन के जन्म के 200 साल बाद भी नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है 1960 के दशक तक कुछ राज्यों ने काले और गोरे लोगों को दुकानों बसों और स्कूलों में अलग अलग रखा तब से कानूनों को बदला गया और कानून के हिसाब से अब सभी जातियों और नस्लों के लोगों के साथ स्कूलों नौकरियों और सार्वजनिक स्थानों पर समान व्यवहार किया जाना चाहिए लेकिन कई मायनों में नस्लवाद अभी भी गोरे लोगों और काले लोगों को विभाजित करता है गुलामी को समाप्त करने के लिए जॉन ब्राउन की लड़ाई अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता की लंबी सड़क पर सिर्फ एक प्रारंभिक कदम था महत्वपूर्ण तिथियां 1800 जॉन ब्राउन का जन्म 9 मई को टॉरिंगटन कनेटिकट में हुआ 1805 परिवार ओहायो के हडसन टाउनशिप में चला गया 1812 से 1814 युवा गुलाम लड़के की पिटाई देखी गई हालांकि इस घटना की सही तारीख अज्ञात है 1818 अपना खुद का चमड़े का कारखाना शुरू किया 1820 डियांथे लुस्की से शादी की 1821 जॉन ब्राउन जूनियर का जन्म जॉन ब्राउन के 20 बच्चों में से पहला था 1825 रेंडोल्फ पेंसिल्वेनिया में चले गए और नए चमड़े के कारखाने का निर्माण किया 1832 डियांथे ब्राउन की मृत्यु 1833 मेरी एनी डे से शादी की 1837 दास्ता को समाप्त करने के लिए कसम खाई 1846 स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक ऊन का व्यवसाय खोला अठारह फ्रेडरिक डगलस से मुलाकात की और उन्हें अपनी गुप्त योजना बताई अठारह ऊन व्यवसाय विफल रहा न्यू एल्बा न्यूयॉर्क में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में चले गए 1855 गुलामी के खिलाफ काम करने के लिए कैंसस क्षेत्र की यात्रा की अठारह सौ में गुलामी बंदोबस्त के खिलाफ छापेमारी का नेतृत्व किया जिसमें पांच आदमी मारे गए अठारह हार्पर फेरी वर्जीनिया पर छापेमारी का नेतृत्व किया पकड़े गए और मुकदमा चला 2 दिसंबर अठारह को फांसी के तख्ते पर चढ़े